सुख दुख पुण्य पुण्य विषय में मैत्री करना तो उपेक्षा ऐसे चिंतन भावना करने से अंतकरण स्वच्छ होता है चित्त प्रसादन चित्त प्रसादन होने पर एकाग्र हेतु को प्राप्त करता है चित्त प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम प्राण से स्थिति निबंधन प्राणायाम करने से प्राण से प्रक्षर्दन और विधारण प्राण का निकलना और को पूरक करके निगत करने पर कुंभक ऐसे प्राणायाम करने पर मन की स्थिति होती है और दूसरे का विषयवती का प्रवृत्ति उत्पन्न मन स्थिति निरंजन प्रवृत्ति का तो साक्षात कर प्रतिष्ठा प्रति प्रवृत्ति ये विषय वाली प्रवृत्ति विषय दिव्य संबित दिव्य गंधरस आदि ज्ञान ऐसे करने पर ज्ञान साक्षात्कार होने पर मन की स्थिति होती है स्थिति का कारण ऐसा कहकर और कहते हैं विश्व व ज्योतिष्मती ज्योतिष्मती प्रवृत्ति विश्व का ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मन का स्थिति निबंधन है ज्योतिषमति ये प्रवृत्ति का विशेषण है प्रवृत्ति प्रतिष्ठा वृत्ति प्रवृत्ति का अर्थ क्या साक्षात्कार ज्योतिषमति साक्षात्कार ज्योतिषमति साक्षात्कार ज्योतिषमति ज्योति प्रकाश में मनस प्रवृत्ति उत्पन्न स्थिति निबंधन ऐसे साक्षात्कार प्रकाश में साक्षात्कार प्रकाश होने पर विषय का है दुख रहित दुख रहित ज्योतिष प्रकाश में ऐसे हृदय कुंडली कमल है उसमें ध्यान करने पर ऐसे जब साक्षात्कार होता है उससे मन की स्थिति होती है मन स्थिति निबंधन स्थिति का कारण है टीका में विषो का व ज्योतिषमती विगत शोका विषय का दुख रहता ज्योतिषमती ज्योतिरस्यास्ती ज्योतिषमती अर्थात प्रकाश रूपा प्रकाश रूप यह शोक रहित दुख रहित प्रवृत्ति साक्षात्कार ज्ञान भाष्य में कहा कैसे साक्षात्कार होगा उसके लिए कहा हृदय कुंडल के धारे तो या बुद्धि संबित हृदय कुंडल हृदय में हृदय के कुंडल के कमल के सदस्य उसमें जो धारणा करता मन को स्थिर करता है तो बुद्धि संबित बुद्धि संबित बुद्धि का भी ज्ञान है बुद्धि संबित बुद्धि में ज्ञान होता है पहले तो विषय वाले बुद्धि ये बुद्धि संबित प्रकाश में यहाँ बुद्धि रूप जो सत्व है उसको यहाँ कहेंगे प्रकाशमय है आगे इसकी व्याख्या है पहले टीका में हृदय पुंडरिक उदरो रसोर मध्य यद अधोमुखम दलम उदर उरस छाती पेट के बीच में उदय स्थान है यद पद्म ये पद्म पुष्प के सदृश है अधोमुखम पद्म नीचे होने पर जिसे रहता है ऐसे तिष्ठति अष्टदलम योगियों का प्रत्यक्ष होता है आठ दल उसमें है उसको अधोमुख को ऊर्धमुख करना प्राणायाम करके रेचक प्राणायाम न तद ऊर्धमुखम कृत्वा तत्र चित्तम धारे हृदय कमल के ऊपर ऐसे करके प्राणायाम करके प्राणायाम करने के ध्यान करने से तद को होता है चित्त का धारणा उसमें मन में मन चित्त को उसमें लगाए चित्त का धारे चित्त उसमें स्थिर करे देश बंध चित्त से धारणा उसमें चित्त को लगाए मध्य सूर्यमंडलम अकारो जागरित स्थानम उसमें सूर्यमंडल है अकार उकार मकार तीन मिलकर के ओम होता है अकार है जागरित स्थान जागरितम स्थान यश्य जागरित स्थान वाला अकार मांडी को उपनिषद में कहा गया वैश्वान है जागृत स्थान सूर्यमंडल है अकार जागृत स्थान स्थूल है उसके ऊपर है चंद्रमंडलम उकार स्वप्न स्थान अकार के बाद उकार चंद्रमंडल है प्रकाशमय स्वप्न स्थान उसके ऊपर है वर्णी मंडलम मकार स्थान ये तीन अ उम तीन के पश्चात चतुर्थ होता है जैसे मांडुके में कहा गया एक मात्र दो मात्र तीन मात्र चतुर्थ है अमात्र सूर्य यसे उपरी परम व्योमात्मक ब्रह्मनादम सूर्य स्थानम अर्धमात्र अर्धमात्र मकार उच्च परम व्योमात्मा निरपित है आकाश स्वरूप है आकाश सर्वगत कहा गया ब्रह्मनादम ब्रह्म स्वरूप नाद ब्रह्म स्वरूप है तूर्य स्थान तूर्य स्थान यश चतुर्थ स्थान वाला यह वास्तव स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप अर्धमात्र मकार है अ उ म अ उ म होने के बाद एक अर्ध मात्र में तो मांडिक में तो तीन अ उ म कह कर तीन मात्र कह करके आगे अमात्र कहा यहाँ अ उ म तीन मात्र कह करके नाद बिंदु नाद है बिंदु चंद्र आकार पर है अर्धमात्र उदाहरण न ब्रह्मवादिन न उदाहरण थी ब्रह्म वदंती ब्रह्मवादिन ब्रह्म के ऊपर उपदेश करने वाले अन्य अनुभव प्रकाश करने वाले ब्रह्मवाद में ऐसे कहते हैं तत्र कर्णिकायाम ऊर्धमुखी सूर्यादि मंडल मध्य का ब्रह्मनाड़ी कर्णिकायाम कर्णिका ये कमल का फल है कमल का कहते हैं हिंदी ऊर्धमुखी ऊर्धमुख वाला ब्रह्मनाड़ी सूर्यादि मंडल मध्य का सूर्यमंडल चंद्रमंडल वन्यमंडल मध्य में जाने वाली ब्रह्मनाड़ी तत्व की ऊर्धम प्रभुता सुषुमना नाम नाड़ी उसके ऊपर भी सुषुमना नाम का नाड़ी है सुषुमना नाम नाड़ी तया खलो बाह्यान्य सूर्यादि मंडला ने प्रोता इसे नाड़ी के द्वारा बाहर सूर्य चंद्र अं- अं- अं- अग्नि आदि स्रोत भूथे गए उसके साथ संबंध है उसमें स्थित है ही चित्त स्थान चित्त का स्थान हुआ हुआ सुषमना सुषमना के अंदर जो चित्त है तस्याम सुषमनायाम धारयत उसमें धारणा करने पर योगिन चित्त संबित थे योगी में ये बुद्धि संबित जो कहा बुद्धि संबित उसमें बुद्धि का ज्ञान यहाँ जो बुद्धि है उसके लिए बुद्धि स्वरूप यहाँ सत्व गुण है भाष्य में बुद्धि सत्व भी भास्कर आकाश कल्पन बुद्धि सत्व है टीका में ताही चित्तसाम सत्यम धारे तो ये गुण चित्त संवृत्ति थे चित्त ज्ञान उपपत्ति पूर्वक बुद्धि संबित आकार आदर्शेती उपपत्ति युक्ति युक्ति पूर्वक बुद्धि संबित का आकार दिखाते हैं बुद्धि सत्व में भास्करम प्रकाश है बुद्धि सत्वम भास्कर प्रकाश नाम आकाश कल्पम आकाश के समान है व्यापक तत्र स्थिति वैसरद्यात प्रभृति स्थिति स्थिर हो जाने पर चित्त वैसारध्य स्पष्टता निर्मल एकाग्र होने पर प्रवृत्ति होती प्रकृष्टावृत्ति प्रवृत्ति साक्षात्कार सूर्येन्दु ग्रह मणिप्रभा रूपाकरण विकल्प थे सूर्य चंद्र ग्रह मणिप्रभा रूप से विभिन्न प्रकार साक्षात्कार होता है तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम यहाँ जो अस्मिता दिया है ये अस्मिता शब्द से दृग दृश्य एकात्मता योग अस्मिता योग शास्त्र में कहते हैं सूत्र आगे आएगा किंतु यहाँ अस्मिता शब्द से अहंता अस्मिता ऐसे पर्यावरण के लेकर के अस्मिता आत्मता अहमता लेकर के ये आत्मस्वरूप लिया इसमें समापनम उत्तम आत्मस्वरूप एकाग्र चित्त जो होता है निस्तरंग महोदधि कल्पन महोदधि समुद्र निस्तरंग तरंग रहित समुद्र के समान शांतम अनंतम व्यापक है अस्मिता मात्र होते स्वयं अस्मिता रूप एक रूप होता है प्रकाश मात्र होता है यत्र इदम उत्तम जिसके लिए पंचशिखाचार्य ने सांख्य के आचार्य ने कहा टीका है आकाश कल्पमित व्यापिता माह भाष्य में है भास्कर आकाश कल्पम आकाश के समान कहने का अधिकार व्यापक है सूर्यादीना प्रभा तासाम रूपम तदा कारण विकल्पते विकल्पते का नाना रूपा होती विविध विविधम कल्पते सूर्यादि उनके प्रभा है ऐसे काशाम रूपों के समान नाना रूप हो जाता है चित्त यहाँ जो बुद्धि संपत्ति दिया है बुद्धि महत्त्व कहते सांख्य योग में यहाँ के तो बुद्धि से महत्व तो नहीं मनुष्य अतर बुद्धि का अभिमत बुद्धि शब्द से मन लेना न कि बुद्धि न तो महतत्व महतत्व जो बुद्धि है इसको नहीं लेना प्रकृति से उत्पन्न होता है महतत्व जिसको बुद्धि कहते हैं उससे अहंकार उससे तन्मात्र सत्य च सत्य वैकारिक अहंकार जन्म न सप्त बहुलतया ज्योतिरूपता विवक्षिता जो मन है मन को लेना महतत्व को नहीं लेना बुद्धि को सुषुम्नाष्ट सुषुमना सुषुम्ना में स्थित मन वैकारिक अहंकार न अहंकार से उत्पन्न होता है वैकारिक जो विकार है कार्य अहंकार बुद्धि से अहंकार अहंकार से तन्मात्र तो सत्व बहुलतया सत्व गुण अधिक होने से ज्योति रूपता प्रकाश रूप है ये कहा गया मन जब उसमें ध्यान करेंगे तो उसका साक्षात्कार मन स्वयं प्रकाशमान है जो सत्व गुण है अधिकम से ज्योतिर्गता प्रकाश रूप है तत्त विषय गोचरतया च व्यापित्व अभी इसमें ज्ञान भिक्षु के वार्षिक है उन्होंने कहा है आत्म तत्व लेना वाचस्पति विषय होते हैं मन को लेना मन सदाकार होता है तत्त विषय गोचरतया से व्यापित्व यदि मन लेके मन कैसे व्यापक होगा तो विभिन्न विषय को विषय करने वाला मन होता है विषय गोचर विषय गोचर रहती है अलग अलग विषयों को मन विषय करता है मन की वृत्ति होती है इसलिए मन को व्यापित्व अपनी शुद्ध व्यापक का अस्मिता कार्य मन समा समापत्ति दर्शित अस्मिता समापत्ति सर्वमाह अस्मिता का कार्य हो गया मन अहंकार का कार्य मन है मन में समापत्ति संपत्ति नहीं समापत्ति दशे तो अपने समापत्ति ध्यान देखा करके अस्मिता समापत्ति शब्द अस्मिता में समापत्ति अस्मिता में समापत्ति यहाँ अस्मिता शब्द से आत्मा लिया है अस्मितायाम समापत्ति स्वरूप तथा अस्मितायाम भाषण में दिया अस्मितायाम समापनम चित्तम यहाँ जो अस्मिता है इसको पहले आ गया बुद्धि शब्द से मन लिया यहाँ जो अस्मिता शब्द आया ये अस्मिता शब्द से आत्मा लेना है चित्तम नितरंग महोदय विकल्पम शांतम अनंतम स्वयं अस्मिता मात्र चित्त हो जाता है आत्मस्वरूप हो जाता है ठीक है शांतम का अर्थ अवगत रजस्तम तरंगम रजत तमरूप समुद्र में तरंग होते हैं इसमें चित्त में रजगुण तमगुण तरंग के समान वो रहित हो गया रजगुण तमगुण तरंग रहित हो गया अनंत है व्यापी अस्मिता मात्र न पुनर् नाना प्रभा रूपम अनेक प्रकाश रूप नहीं अस्मिता मात्रम केवल प्रकाश सामान्य है ये प्रकाश स्वरूप आत्मस्वरूप है पुरुष सिद्ध रूप है आगमांतरण समतम समी करोती सांख्य दर्शन में कहा गया इसके और पंचकाचार्य ने कहा समतम समान अपने मत सांख्य मत समान है इसके ऊपर कहते यत्र इदम उत्तम जिस विषय में ये कहा गया पंच शिक्षा ने पंच यत्र इदम उत्तम पंचशिखे न आचार्य पंच पंच पंचशिखाचार्य सांख्य सूत्र ने ऐसा कहा तम अनुम मात्रम आत्मान अनुविद्य अस्मित एवं तावत संप्रजानी थे सूत्र का स्पष्ट कर दिया अस्मिता का अर्थ आत्मा लेना तम अनुमात्रम आत्मा अनुविद्य अनुमात्र अनुस्वरूप है सूक्ष्म है सूक्ष्म से अणु का अणोरण्यान महत्वमयान उपनिषद में है अणु सत सूक्ष्म के लिए क्योंकि जो अणु हो और महत्तर भी हो सूक्ष्म से अनुता आत्मान अनुविद्य अनुविद्य जान करके उपदेश के पश्चात चिंतन करके अस्मि इतम ताव संप्रजानते अस्मि इस प्रकार साक्षात्कार करता है ये सांख्य शास्त्र में कहा गया है टीका में कम अनु अनुका का दुखे न अधिगम इसका ज्ञान सूक्ष्म है सूक्ष्म होने कारण सरल से ज्ञान नहीं होता धारणा ध्यान बहुत करने पर साक्षात्कार होता है आत्मान भाष्य में आया अनंत मतम आत्मान अनुविद्य पदम अहंकार का जो विषय अहम ऐसे जिसमें प्रयोग होता है उसे आत्मा को लेना यहाँ अहंकार शब्द से अस्मिता नहीं किंतु आत्मतत्व तत्व लेने के लिए कहा गया है अहंकारास्पदम अनुविद्या का अनुचिंत्य उपदेश के पश्चात शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात चिंतन करना अनुविद्य उपासना करके ध्यान करके अस्मित एवं तावत जानते अस्मि से साक्षात्कार करता है इसके ऊपर संख्या है क्या देखत नाना प्रभारूपा भवतु ज्योतिषमती कथम अस्मिता मात्र रूपा ज्योतिषमति जो प्रवृत्ति है नाना प्रकाश रूप हो किंतु वह अस्मिता मात्र थे ये ज्योतिषमती इतना ऐसा द्वयी दो प्रकार है ऐसा ये प्रभा जो प्रकाश है जिसको का नाम तो द्वयी प्रकाश है द्वयी एक है विषयावती प्रभा विषय वाली ऐसा द्वयी विषय का विश्व का है तो शोक रहित तो दो प्रकार साक्षात्कार ज्ञान एक विषयवती और एक अस्मिता मात्रा से प्रवृत्ति साक्षात्कार दोनों विश्व का दो विषयवती पहले आया विषयवती बुद्धि पूर्व में कहा था ज्ञान प्रवृत्ति वृत्ति प्रवृत्ति विषयवती या प्रवृत्ति उत्पन्न मनोतत्व निबंधन निबंधन तरह कहा गया ये विषयवती नहीं विषयवती भी अमित का है ये अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति अस्मिता मात्र अस्मिता मात्रम अस्मिता शब्द से अहंकार लेते हैं अहंकार से वेदांत में तो बुद्धि अंतकरण के एक वृत्ति अस्मित अहंकार सांख्य में कहते दृक और दृश्य दोनों की एकात्मता है वो दृश्य बुद्धि है और दृक है चेतन दोनों की के तादात्म अभ्यास होता है अस्मिता मात्र का इसमें उपाधि अंश को बुद्धि अंश को जड़ अंश को छोड़ देंगे तो चेतन अंश रहता है चेतन रूप है ये भी प्रवृत्ति साक्षात्कार एक विषयवती साक्षात्कार दो प्रकार है ज्ञान जैसे वेदांत मानते घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ये विषय ज्ञान है और एक स्वरूप ज्ञान है नित्य ज्ञान वह विषय रहित है इसी प्रकार यहाँ भी दो प्रकार विषयों का प्रवृत्ति साक्षात्कार की विषयवती और एक अस्मिता मात्र आत्मस्वरूप ही केवल प्रकाशनात्म है ज्योतिषमती उच्चते ये प्रकाशमती कहते योगी न चित्तम स्थिति पदम रहते योगी का चित्त स्थिति पद को प्राप्त करता है क्योंकि प्रवृत्ति के द्वारा साक्षात्कार के द्वारा ज्ञान स्वरूप विषय के बिना ज्ञान स्वरूप अस्मिता करते उसके विषय में उसका साक्षात्कार है ज्योति कथम अस्मिता मात्र रूपा ज्योति स्मृति ऐसा दो दो प्रकार है प्रवृत्ति है विश्व का दो नहीं किंतु एक होता है विषय वृत्ति और एक अस्मिता मात्रा विधु तरज तमोमला अस्मिता एवं सप्तमयी ज्योतिषि भाव अस्मिता ही सप्तमयी प्रकाश ही जो रजगुण तमोगुण रहित तो हो जाता है शुद्ध हो गया सत्वगुण सत्वमयी सत्व ही अधिक है प्रकाश मात्र है द्विविधाया ज्योतिषमत्या फलमा दोनों प्रकाश रूप है ज्योतिषमती इससे योगी की चित्त योगी का चित्त स्थिर हो जाता है ऐसे साक्षात्कार होने पर साक्षात्कार ऐसे होने पर कुछ दिव्य रूप रस संबित ज्ञान होता है तो उसके बाद चित्त स्थिर होता है और प्रकाश मात्र रूप है प्रवृत्ति साक्षात्कार अस्मिता मात्र चिद्रूप है ऐसे स्थिति को प्राप्त करने पर मन स्थिर होता है जिस प्रकार वेदांत में श्रवण मनन करने के बाद अंतकरण में ब्रह्माकार वृत्ति होती है अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा निश्चय शब्द केवल नहीं मन से निश्चय जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है थोड़े समय होने के बाद फिर आगे चिंतन करने के लिए वृत्ति करने की इच्छा होती है प्रवृत्ति होती है जब तक इसे श्रवण मनन के द्वारा संशय दूर नहीं हो तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती संशय दूर होने पर जिसकी वासना नहीं हो ब्रह्माकार वृत्ति अहम ब्रह्म ऐसे निश्चय वृत्ति हो जाती है कम समय रहने पर भी आगे विलक्षण स्थिति है ऐसे करने की इच्छा होगी प्रवृत्ति होती मन स्थिर होता है मन विषय चिंतन करके वृत्ति ज्यादा होती है थोड़ा सा कभी स्वरूप चिंतन में मन स्थिर हो जाने पर फिर आगे स्थिर होने से मन में चिंतन होता है चित्त को स्थिर करने के लिए ही विभिन्न प्रकार साधन है चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही है समाधि इसमें एक अलग यहाँ सूत्र है ये भी है चित्त स्थिति के लिए एक साधना वीतराग विषय व चित्तम बीता रागा यस्य सभी राग राग रहित आसक्ति रहित ऐसे जो सिद्ध महापुरुष है ज्ञानी जिनकी आसक्ति पूरा नष्ट हो गई तो वीतराग विषय से चित्त और चित्तम वीतराग विषय अर्थात वीतराग महापुरुष को विषय करने वाले चित्त जो भीतर आ गए इसमें दिया जैसे व्यास सुख बड़ पद आदि यदि जिनके गुरु परम गुरु आदि में ऐसे होते आचार्य ज्ञानी है भीतर आ गए ऐसे उनका चिंतन करने पर भी मन स्थिर हो जाता है इसलिए महापुरुष जो वास्तव ज्ञानी है उनका चिंतन करने पर भी मन स्थिर होता है और जो सिद्ध है शास्त्र में निश्चित है और व्यास सुख आदि उनको विषय करने वाली चित्त जिसे ध्यान करने पर मनस स्थिति मन की स्थिति होती है बीतराग चित्तालंबन उपरतम व योगिन चित्तम स्थित पद लभत बीतराग चित्तालंबन उपरतम बीतराग जो महापुरुष है उनका जो चित्त है उसी चित्त है आलंबन उससे उपरक्त उसी चित्त का जो भीतराग चित्त है का आलम्बन आश्रय उसमें संबद्ध जो योगी का चित्त है योगी का चित्त का चित्त विषय को हो उनका जो चित्त है वही आलम्बन का चित्त ही आलम्बन बीतराग चित्त का आलम्बन इतना ऐसा नहीं बीतराग का चित्त है आलम्बन उसके आलम्बन में संबद्ध है योगी का चित्त बीतराग के चित्त बीतराग को विषय करे अर्थात बीतरा के चित्त को विषय करे बीतरा का चित्त कैसा है वो चित्त केवल शुद्ध है सत्वगुण प्रधान है और चित्त जिस विषय का चिंतन करता है जैसे ब्रह्माकार वृत्ति होने पर स्वयं वृत्ति ब्रह्म शुद्ध हो जाती है बीतरा का जो चित्त है वो भी प्रकाश अस्मिता मात्र रूप हो ऐसे चित्त है प्रकाशमान है आत्मस्वरूप है वेदांत ग्रंथ उसको तो कहेंगे वितराय का चित्त तो मन जब ब्रह्माकार हो जाता है स्वयं ब्रह्म रूप क्योंकि सब कुछ ब्रह्म में अध्यस्त है अधिष्ठान ही ब्रह्म है उसको लेकर ब्रह्म कहेंगे इनके मत में चित्त वितराय का चित्त वही आलम्बन चित्त को आश्रय करके योगी का चित्त होने पर स्थिर हो जाता है वितराय का चिंतन करें वितराय का जो राग रहित चित्त ज्ञानी के चित्त को चिंतन करेगी उनके चित्त स्वच्छ है ब्रह्म स्वरूप चिंतन करने से ज्ञानी ब्रह्म रूप है जैसे वेदांति चिंतन करते इनका है योग दर्शन में उनका जो चित्त है वो निरुद्ध चित्त है असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होने पर संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने पर चित्त स्थिर हो जाता है उसी में आलम उसके आलम्बन में उपरक्त संबद्ध योगी का चित्त योगी जब उसी चित्त को ध्यान करता है उसमें धारणा ध्यान समाधि तीनों धारणा ध्यान समाधि ऐसे चित्त स्थिर करता है लगाता है तो स्थिति पदम लगते योगी चित्त स्थिर हो जाता है यह सामान्य बीतराग जो महापुरुष है उनका चिंतन उनके चित्त को सूत्र में कहा है बीतराग विषय में चित्तम भाषण में कहते भीतरा का जो चित्त उस चित्त रूप आलम्बन में उपरता टीका में बीतरागा कृष्ण देवतायन प्रभुतय व्यास जी सुखदेव तेषम चित्तम बीतराग का जो चित्त है तदेव आलम्बनम बीतराग व्यासादि का जो चित्त उस चित्त ही आलम्बन है उस तेन उपरक्षम का तो उससे संबद्ध योगी का चित्त अर्थात योगी जो ध्यान करता है बीतरा का ध्यान करे बीतरा के चित्त को विषय करने वाला ध्यान बीतरा का चित्त का ध्यान करे बीतराग चित्त स्वच्छ है राग द्वेष मोह रहित तो, ऐसा चित्त उसका चिंतन करने पर योगी का चित्त स्थिर हो जाता है ये भी एक साधन है वृत्ति निरुद्ध करने के लिए और भी साधन है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम स्वप्न निद्रा ज्ञान स्वप्न ज्ञान निद्रा ज्ञान उसको आलम्बन करने वाले चित्त वो भी स्थिति पद को लाभ करता है स्थिर हो जाता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन वाह टीका में यदा कल अयम स्वप्ने विविक्त वर्ण सन्निवेशवर्तिनी उत्कीर्णाम एवं चंद्र मंडला कोमल मृणाल सकलानुकार अंग प्रत्यंगे रूपेराम अभिजात चंद्रकांत मणिमयी अति सुरभि नालति मल्लिका नालाहारिणी मनोहराम भगवतो महेश्वर से प्रतिमा आराधयन प्रबुद्ध प्रसन्न मना सदा काम स्वप्न ज्ञान आलम्बनी भूतान अनुचित तदेकाकार मनस सत्रव चित्तम स्थिति पदम लभते वेदांत में तो स्वप्न का चिंतन करने के लिए कहा है स्वप्न प्रपंच में विषय नहीं किंतु दर्शन ज्ञान होता है ज्ञान विषय नहीं होने पर भी ज्ञान जागरण पर दिखता है सो तो मिथ्या है जागृत प्रपंच में इस प्रकार ज्ञान होता है विषय मिथ्या है ऐसा चिंतन करने के लिए पंचदश में आया स्वप्न महापुरुषेण दृष्टा पश्चिम सजागर सजागरे सत्य संत्यज्य नानुरज्यति पुरवत चिरम तय सर्वसाम्यम दिष्टा पश्चिम सजागरे ऐसा कहा दीर्घ काल तो स्वप्न जागृत के समानता दे करके जागृत प्रपंच में भी सत्य बुद्धि छोड़ करके चिंतन करने के लिए वेदांत में कहते हैं यहाँ विशेष कहते स्वप्न ज्ञान का आलम्बन सपने में कोई देखा सपने में कभी कभी स्वप्न में सुख भी होता है दुख भी होता है जागृत में जैसे सुख दुख पुण्य पाप कर्म फल है सपने भी सुख पुण्य का फल है और दुख पाप कर्म का फल है सुख दुख भी कभी जो चिंतन करता है ध्यान करता है सपने भी कभी परमात्मा का दर्शन करता है सपने का भी दर्शन करने से इतने मात्र से साक्षात्कार नहीं हुआ फिर भी मन प्रसन्न होता है सपने में भगवान का दर्शन किया उठने पर प्रसन्न होता है तो जो दिन भर चिंतन बार बार करता है कभी कभी सपने में दर्शन करता है कभी कभी साधु को सपने में भगवान उपदेश करते हैं अति दुखी कोई होता है तो सपने में परमात्मा को आश्वासन देते हैं कुछ उपदेश करते हैं किसको कुछ आदेश कुछ करते हैं ये भी प्राप्त होता है और उसके अनुसार कोई कोई सपने के जैसे देखते उसके अनुसार कुछ प्रवृत्ति उनकी होती है आगे फल प्राप्त करते ऐसा ही बहुत अच्छे साधकों को प्राप्त होता है परमात्मा की कृपा से सपने में भी कुछ उपदेश होता है भगवान का दर्शन किया इसी प्रकार यहाँ कभी कभी कोई सपना देखता है किस प्रकार सपने विविध वन सन्निवेश वर्ति नहीं एकांत शुद्ध वन सन्निवेश वन एक सन्निवेश बहुत वन के बीच में स्थित उत्कीर्णाम चंद्रमंडला कोमल मृणाल सकला अनुकार भी अंग प्रत्यंगी उत्कीर्ण फैली हुई चंद्रमंडल से निकाल निकली कोमल मृणाल सकल अनुकारी भी मृणाल पद्म पुष्प का दंतल कोमल पद्म पुष्प के दल के अनुसार कोमल उसके टुकड़ा उसके अनुसार भी उसके समान अंग प्रत्यंग परमात्मा को देखता है उसका अंग प्रत्यंग ऐसे पद्म पुष्प के दल के समान सुंदर अभिजात चंद्रकांत मणिमयी अभिजात नूतन है सुंदर चंद्रकांत मणिमयी चंद्रकांत मणि के सदृश अति सुर भी उसमें सुगंध भी दिव्य गंध स्वप्न में कभी परमात्मा का दर्शन करता है अति सुर भी अत्यंत सुगंधी मालती मल्लिका मालाहारी मालाहारी मालती पुष्प है मल्लिका पुष्प है चमेली मल्लिका आदि ये माला सुंदर धारण करने वाले मनोहराम अत्यंत सुंदर मनो में शांति देने वाले मनो को हरण करने वाले भगवत को महेश्वर से प्रतिमान आराधयन भगवान महेश्वर की कहीं प्रतिमा से इसे पुष्प आदि है पूजा करता हुआ सपन में यज्ञ आराधन वे प्रबुद्ध जब जग जाता है तो उस समय प्रसन्न मन्ना प्रसन्नम मनो यश प्रसन्न मन्ना मना एक वचन है या है एक वचन है बहुवचन है प्रसन्नम मनो यश प्रसन्न होना अत्व संतरी होता है तथा ताम एवं जगने के बाद ताम एवं स्वप्न ज्ञान आलम्बन भूतान स्वप्न ज्ञान का जो आलम्बन आश्रय विषय परमात्मा उसी को चिंतन करता है सपने में से देखा परमात्मा को उठ करके उसका ध्यान करता है चिंतन करता है बहुत समय से सपने में कोई देखता है उठने के बाद फिर चिंतन बार बार अपने आप होता है कैसे सुंदर स्वप्न देखा भगवान को देखा चिंतन करते करते नींद नहीं आती है ऐसे कोई ऐसे सपने में दर्शन भी पुण्य कर्म से परमात्मा की कृपा से होता है तो हमेशा नहीं होता है सबको नहीं होता है हम चिंतित तस्य तद एकाकार मनस एकाकार मनुष्य में स्थिर हो जाता है चिंतन करता है तत्र वो चित्तम स्थिति पदम लगत चित्त उसमें स्थिर हो जाता है ये स्वप्न ज्ञान आलम्बन हुआ निद्रा ज्ञान आलम्बन भी है भाष्य में दे दिया स्वप्न ज्ञान आलम्बनम निद्रा ज्ञान आलम्बन बा सदाकारम योगी का चित्त हो जाता है स्वप्न ज्ञान का जो आलम्बन परमात्मा को दर्शन किया निद्रा ज्ञान का जो आलम्बन सुश्रुति में स्वप्न रहित ऐसे ज्ञान है स्थिति पदम लभते निद्रा जो दिया है निद्रा भी कहीं सात्विक राज्य से तामस निद्रा होती है नींद में सोने के बाद उठने के बाद तो कोई कहता है सुख से सो गया पाठ सुनते सुनते जो निद्रा सुनेगा ना पाठ सुनते सुनते किसको अच्छे अधिकारी को निद्रा लगती है ना वो निद्रा नहीं गांठ निद्रा से सुखी लेना सत्व गुण अधिक हो तो इसमें निद्रा के बाद सात्विक से जिसके बाद जगने के बाद कहता है सुखम अहम सातम सुख से सो गया ये कभी ऐसा होता है कभी उठने के बाद बड़े दुख से होकर उठता है कभी सोकर उठा बड़ा प्रसन्न होकर सुख से सो गया कुछ पता नहीं चला और कभी उठने के बाद बड़ा शरीर बड़ा मंद है किस्त है माना बड़ा अस्थिर है और शरीर उठना ही उठने की इच्छा नहीं होती घाटी लग जाए तो फिर सो कर फिर उठ करके फिर सोचते चलो क्या हो जाता है देखेंगे देवता फिर चलो ऐसे कोई कोई सोते हैं आलस्य कम गुण अधिकोण से निद्रा ज्यादा नहीं होती फिर सो गए फिर निद्रा फिर प्रमाद फिर उठ गए फिर निद्रा इसी प्रकार है यहाँ जो निद्रा आलम्बन चित्त ध्यान करने के लिए कहा वो निद्रा को नहीं लेना जो प्रणालियों की निद्रा उसको नहीं लेना सुसुप्त जो गाढ़ निद्रा उसको लेना इसके लिए आगे आएगा ऐसे निद्रा आलम्बन चित्त चित्त ऐसा करने से मन स्थिर होता है मन की स्थिरता के लिए कितने विकल्प आगे भी देंगे विकल्प और भी है सुसुप्त अवस्था में वेदांत में कोई विषय नहीं है तभी आनंद रूप से रहते हैं मांडुके में आया नाम का प्रज्ञा न वही प्रज्ञा इत्यादि का जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था नहीं सो गया अज्ञान रहता है किंतु विक्षेप नहीं रहता है विक्षेप नहीं होने मात्र से सब सुसुप्त अवस्था में आनंद रूप कहते दुख का अभाव है इसी प्रकार यहाँ भी शक्ति की निद्रा उसको आलंबन करके जब चित्त ध्यान करते हैं मन स्थिर होता है मन स्थिरता के उपाय है ओम